पंचदश मंत्र व्याख्या सोलह से प्रारंभ होगा कुछ नहीं बताने अवतरण क्या हुई थी हम्म। प्रकरण विच्छेदन उत्तर से संबंधम दर्शयती ज्ञान प्रकरण था उच्छेद करके आगे ग्रंथ का संबंध भगवान भाष्यकार दिखाते हैं भाष्य में निरस्ता से विशेष व्यापी ब्रह्मात्म प्रतिपत्तिया प्रभिन्न समस्ता विद्यादि ग्रंथेर जीवतेव ब्रह्मभूत विदुषो न गतिर्विद्यत इतुक्तम अत्र ब्रह्म समश्नुत इतुक्तत्वान् न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति ब्रह्मैव सन् ब्रह्माप्येति श्रुत्यन्तराच्च निरस्ता अशेष विशेष व्यापी ब्रह्मात्म प्रतिपत्त्या निरस्ता अशेष अशेष विशेषः यस्मात् ब्रह्मणः तद्ब्रह्म निरस्ता अशेष विशेष विशेषं व्यापी निरस्ता से विशेषम च व्यापी च ब्रह्म तस्य आत्मा सत स्वात्मा च तस्य प्रतिपत्ति निर्विशेष व्यापक ब्रह्म और आत्मा की एकता निरस्ता से विशेष हो गया निर्विशेष सारे विशेष रहित व्यापक ब्रह्म वही आत्मा है आत्मा प्रतिपत्या अहमस्मि ब्रह्म नित्यम शुद्धम विक्रियम ऐसे ज्ञान होने से प्रभिन्न समस्त अविद्यादे ग्रंथे प्रभिन्न प्रभिन्न समस्त अविद्यादि ग्रंथे यस्य ज्ञानिन अविद्या आदि से काम कर्म अभ्यास ग्रंथि सब नष्ट हो जाता है ज्ञान से ऐसे जिसका नष्ट हो गया ज्ञानी तस्य जीवतेव ब्रह्मभूतस्य जेते जीव ब्रह्मभूत मुक्त जीवन मुक्त ऐसा विदुष ज्ञानी की न ज्ञातिर विद्यते फिर ब्रह्म स्वरूप हो गया जीते जी आगे कहीं ब्रह्म स्वरूप हो गया यही ज्ञान का फल पहले ही से प्राप्त हो गया और कुछ फल प्राप्त करने के लिए कहीं जाने का है ही नहीं स्वयं जीते जी ब्रह्म रूप हो गया न गतिर्विद्यत इति उत्तम अत्र ब्रह्म समश्नुते इति उक्तत्वात् कहा अत्र ब्रह्म समश्नुते पूर्व मंत्र में कहा मर्त्यम पूर्व अत्र अथ मृत्यु अमृत भवत अत्र ब्रह्म समस्नुते इसमें कहा गया और बृहदारण्य में कहा न तस्य प्राण उत्क्रामंती ब्रह्मेव सन ब्रह्मा पेति उसके प्राण के उत्क्रमण नहीं होता है स्वयं ज्ञानी ब्रह्म होता हुआ है भी ब्रह्म को प्राप्त करता है ब्रह्म स्वयं नित्य प्राप्त है पहले ब्रह्म होकर के केवल शरीर समाप्त प्रार्ध समाप्त हुआ ब्रह्म को प्राप्त करता है गौण प्रयोग है श्रुति अंतराच बृहदारण्य में कहा गया ये पुनर्मंद ब्रह्मविदो विद्यांतरशीलिनश्च लोक भाजो ये च तद विपरीता संसार भाजस्तेषाम ऐसा गति विशेष उच्यते प्रकृत उत्कृष्ट ब्रह्म विद्या फलस्तुत इनसे विलक्षण ये पुनर्मंद विद मंद ब्रह्मविद जो विद मंद अर्थात निर्विशेष आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ विद्यांतरशीलिन सगुण उपासना करने वाले सगुण ब्रह्म उपासना करने वाले अथवा अन्य कोई उपासना करने वाले पंचाग्नि आदि उपासना विद्या संवर्ग उपासना सब ब्रह्मलोक भाजो ब्रह्मलोक प्राप्त करते जो ब्रह्मलोक जाएंगे उनकी गति है कार्यम बादरी से गति उपपत्ते है ब्रह्मसूत्र है जो उत्तरायण मार्ग से जाएंगे वो कार्य ब्रह्म को प्राप्त करेंगे शुद्ध ब्रह्म की प्राप्ति के लिए गमन की आवश्यकता नहीं न तस्य प्राण उत्क्रामति यही ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है जो ब्रह्मलोक जाएंगे ये च तद विपरीत संसार भाज तो तो कोई उपासना करके ब्रह्मलोक को प्राप्त करेंगे बाकी जो ऐसा नहीं तो संसार को प्राप्त करेंगे तो ऐसा गति विशेष उचित या अभी आगे मंत्र में अभी कहेंगे गति विशेष कहते हैं इसलिए गति विशेष उनको क्या क्यों कथन करते हैं ज्ञानी का प्रकरण चल रहा था प्रकृत उत्कृष्ट ब्रह्म विद्या फलस्तुत है प्रकृत जो प्रकरण है उत्कृष्ट ब्रह्म विद्या है निर्विशेष ब्रह्मात्म साक्षात्कार उसका फल है मोक्ष जीवन मुक्ति यही ब्रह्म के साथ एक हो जाते हैं उसी फल की स्तुति के लिए ये ब्रह्म विद्या फल यहाँ ही प्राप्ति हो फल की प्राप्ति ही होती है ऐसा कह करके उसकी स्तुति के लिए जो ब्रह्मलोक को प्राप्त करेंगे संसार को प्राप्त करेंगे उनकी गति कही जाएगी किंच अन्यद अग्नि विद्या पृष्ठा प्रत्युक्ता च और यहाँ प्रारंभ में नचिकेता ने पहले पूछा था अग्नि विद्या प्रथम सौमनस्य के बाद द्वितीय भर में अग्नि विद्या प्रश्न क्या था उत्तर भी दिया था ये महाराज ने तस्याच फल प्राप्ति प्रकारो वक्तव्य इति आरंभ वो अग्नि विद्या का फल प्राप्त करे स्वर्ग जाएगा किस प्रकार प्राप्त करेगा वो भी कहना है इसलिए आगे मंत्र का आरंभ करते हैं टीका में यदभाणी भास्करेण प्रकरणाद ब्रह्मविद विषय यं गतिरिति तदसत गति श्रवणेन लिंगेन परिच्छिन्ने गमन योग्यस्या गते संबधावगमे सति दुर्बलेन प्रकरण प्रकृष्ट ब्रह्मविद संबंधानुपपत्ते भास्कर करके एक पहले में आचार्य व्याख्यान किया है अध्यावाणी उन्होंने कहा है ये ब्रह्मज्ञानी का प्रकरण चल रहा है इसलिए जो गति अभी कहेंगे सोलह समंत्र में वो तो ज्ञानी के लिए ही इसे कहते प्रकरणाद क्यों ज्ञानी का प्रकरण है तो परस्पर साकांक्षा प्रकरणम तो ज्ञान पहले ज्ञानी का कथन किया आगे गति कही गई गति किसके लिए ज्ञानी के लिए होगा ऐसे ब्रह्मविद विषय एवं गति ब्रह्म ज्ञानी को विषय करी गति ब्रह्म ज्ञानी की गति ऐसे कहा है किंतु तद दशा तो ठीक नहीं गति श्रवणन लिंगे नहीं ज्ञापक लिंग हो गया श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्या छे प्रमाण है लिंग प्रमाण प्रकरण प्रमाण से बलवत है गति यदि श्रुति में गति की श्रुति होती है श्रवण करते श्रुति में कहा गया गमन करेगा गमन करेगा तो परिच्छिन्न को प्राप्त करने के लिए अपरिच्छिन्न की प्राप्ति के लिए तो नित्य प्राप्त ही गमन की आवश्यकता नहीं परिच्छिन्न गमन योग्य अस्यागत है संभव संबंध अवगमे सति परिच्छिन्न है गमन योग्य ब्रह्म ब्रह्मलोक आदि उसमें गति का संबंध गमन का संबंध ये निश्चय हो जाने पर दुर्बल न प्रकरण प्रकरण तो दुर्बल है लिंग के श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण प्रकरण से वाक्य वाक्य से लिंग बलवत है दुर्बल प्रकरण प्रमाण से प्राकृत ब्रह्मविति का संबंध नहीं हो सकता है लिंग उसे बलवत है गमन है तो परिचन्न की प्राप्ति होगी नाड्यंतराणाम पित्त संबंध प्रसंगात श्रुति विरुद्धत्व तो प्रसंगाच नाड्यंतराणा पे अन्य नाड़ी का कथन करेंगे वो भी ज्ञानी के लिए इस नाड़ी में जाएगा ज्ञानी के ब्रह्म ज्ञानी के साथ संबंध करेंगे वो ठीक नहीं श्रुति विरुद्ध तो प्रसाद श्रुति विरुद्ध हो जाएगा न तो से प्राण उत्क्रमंति कहा गया ब्रह्म सत्व अमृतत्वमेति इसके विरुद्ध होने से यह ज्ञानी के लिए नहीं विस्तरस्य प्रकटार्थ दृष्टव्य प्रकटार्थ विवरण करके ग्रंथ स्वामी टीकाकार आनंद गिरी के में है उसमें और विस्तार से कहा गया है तो भास्कर मत ठीक नहीं है ये तो जो अभिगमन कहेंगे सगुण ब्रह्म उपासक और अग्नि विद्या अग्नि उपासक ब्रह्मलोक आदि स्वर्ग प्राप्ति के लिए गमन है उत्तरायण और जो संसार को प्राप्त करने के दक्षिणायण इत्यादि है गमन उनके लिए ज्ञानी के लिए नहीं है शतम चैका च हृदय से नाड्य तासाम ऊर्धान भवि निश्चितैका तयोर्ध्वमायन्नमृतत्वमेति विश्वंगन्या उत्क्रमणे भवन्ति शतम च एकाच हृदय से नाड्य हृदय के नाड़ी सो और एक एक सौ एक ही प्रधान नाड़ी है उनमें फिर सौ बहुत है तासा मूर्धानम अभिनिश्चित का तासा मध्य उन नाड़ी में से एका मूर्धानम अभिनिश्चिता मूर्ध देश को जाती है हृदय से निकल करके सुषुम्ना नाड़ी है तयोर्धमायन में तया नाड्या ऊर्ध्वम आयन ऊर्ध्व जाते हुए अमृतत्व में ते तो मोक्ष को प्राप्त कर लेता है यहाँ जो अमृतत्व है वो अमृतत्व है ब्रह्मलोक आदि प्राप्ति है आपेक्षिक जीवन मुक्ति तो ज्ञान होते ही प्राप्त करता है ज्ञानी ये ज्ञान नहीं है ब्रह्म निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान नहीं उनसे यहाँ जो अमृतत्व आपेक्षिक है अन्य मर्त्य देवादि के अपेक्षा अधिक दिन रहता है ब्रह्मलोक में विश्व अन्य उत्क्रमण अन्या नाड़्य उत्क्रमण विश्व भवति नाना गति वाले होते हैं अन्य नाड़ी अन्य नाड़ी में उत्क्रमण करें तो नाना गति को प्राप्त करेंगे भाष्य में शतंच एका शतम का तो सत संख्या का सो संख्या वाले एकाच सत संख्या का एकाच सुषुम्ना नाम नाड़ी एके सुषुम्ना पुरुष से हृदय निश्रित विनिश्रिता नाड्य हृदय से निकली नाड़ी है सिरा तासा मध्य मूर्धानम का मूर्धानम भित्वा अभिनिश्चिता निर्गता सुप्सुम्ना नाड़ी है तया अंतकाले हृदय आत्मान वशीकृत योजेत उसे नाड़ी तया अंतकाले हृदय में आत्मान वशीकृत मन को उसमें लगा करके चिंतन करे उपासक को अंतिम समय में भी मार्ग चिंतन करना होता है उपासना करनी चाहिए जिसको ज्ञान हो जाता है साक्षात्कार हो गया आगे तस्य कार्य न विद्यते किंतु उपासना से उपास्य साक्षात्कार हो जाए तो भी अंत तक उसका आवृत्ति करें अंत में ब्रह्मलोक प्राप्ति के मार्ग चिंतन भी करें वसीकृते युजे तया नाड्या ऊर्ध्वम ऊर्ध्व का तो ऊपर ही आयन का अर्थ गच्छन ऊपर जाते हुए आदित्य द्वारेण अमृतत्व अमरण धर्मत्वम आपेक्षिकम आदित्य के द्वारा अमृतत्व को प्राप्त करता अमृतत्व का अर्थ अमरण धर्मत्वम अमरण धर्मत्व यह आपेक्षिक है अन्य देवादि भाव की अपेक्षा दीर्घ काल रहता है ब्रह्म लोक में अजर अमरा देवा देवता को अजर अमर भी कह दे अमर समाप्त होते स्वर्ग से वापस आते हैं आभूत संप्लवन स्थानम अमृतत्व में भाष्यते स्मृते है विष्णु पुराण में कहा गया भूत संप्लव भूत प्रलय होने तक जो स्थान है अमृतत्व कहा गया है तो ब्रह्मा जी के दिन में दिन अंत में प्रलय होता है तब तो, तो रहते हैं कोई ब्रह्म समाप्ति होने तक रहते हैं तो अमृतत्व कह देते हैं ब्रह्मणावास कालांतरण मुख्यम अमृतत्व में भुक्त भोगान अनुपमान ब्रह्मलोकगतान अथवा अमृतत्व को प्राप्त करेंगे मुख्य अमृतत्व अर्थ करेंगे तो सद्य नहीं है ब्रह्मण वास ब्रह्मा के साथ ब्रह्मा के आयु समाप्त होने पर उनके साथ कालांतरण दीर्घ काल के बाद मुख्यम अमृतत्व एति अमृतत्व मुख्य को प्राप्त करता है जो सुस्मरण नाड़ी से निकलता है ब्रह्म उपासक किंतु भुक्त भोगान अनुपमान ब्रह्मलोक कथान ब्रह्मलोक में स्थित भोग है अनुपमान जिनके लिए उपमा है ही नहीं यहाँ ऐसे भोग हो नहीं सकता है जो भोग ब्रह्म ब्रह्मलोक में ब्रह्मलोक या स्वर्ग में जो भोग यहाँ भी नहीं हो सकता है स्वर्ग भोग यहाँ मत्य भोग की अपेक्षा बहुत अधिक है अब ब्रह्मलोक भोग तो बहुत अधिक है वहाँ तो केवल चिंतन करते ही आनंद प्राप्त है स्वर्ग में तो इच्छा करो तो जो खाद्य आदि सामने आ जाएगा केवल खाद्य नहीं भोग्य पदार्थ संकल्प मात्र से भोग्य पदार्थ पास में उपस्थित हो जाएगा आगे भोग करने पर आनंद प्राप्त होगा ब्रह्मलोक में तो पदार्थ की आवश्यकता नहीं उसका चिंतन करते ही भोग आनंद भोग भोग भोजन आ गया सामने तो भी उसको खाने के लिए ब्रह्मलोक में खाने की आवश्यकता नहीं स्वर्ग में इच्छा करो तो पास में आ जाएगा फिर खाओ और ब्रह्मलोक में खाना भी जरूरत नहीं नाम लेते ही उसका आनंद इसी प्रकार सब प्रकार भोग अनुपम भोग ये केवल खाद्य नहीं सब प्रकार भोग है भोग करके अंत में ब्रह्मा जी के साथ ब्रह्मणा तो सहते सर्वे संप्राप्ते प्रति संचरे परशांते ब्रह्मा कृतात्मन प्रविशन्ति परम पदम ब्रह्मा जी के साथ प्रलय का जब होगा 100 वर्ष ब्रह्म की आयु समाप्त होने पर जिनको ज्ञान होता है ब्रह्मा जी के साथ अमृतत्व प्राप्त कर लेते परम पदम ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं विश्व अन्य उत्क्रमण बनते अन्य जो नाड़ी है विश्व का तो नाना विद गतय नाना विद गति वाले होते हैं अन्य नाड़ी अन्य नाड़ी उत्क्रमणे निमित्तम भवन्ति अन्य नाड़ी नाना विद गति के निमित्त हो जाते हैं अन्य नाड़ी से उत्क्रमण करेगा तो नाना विद गति को प्राप्त करेगा अन्य नाड़ी विश्व उत्क्रमणे भवन्ति अन्य नाड़ी उत्क्रमण विश्वंग नानाविध गति वाले अन्य नाड़ी उसके निमित्त हो जाते हैं नानाविध गति को प्राप्त करने के लिए निमित्त हो जाते हैं अन्य नाड़ी अर्थात अन्य नाड़ी से निकलेगा तो अन्य बहुत गति को प्राप्त करेगा संसार को प्राप्त करेगा संसार है एव भवन्ति इत्यर्थ नानाविध गति में तो संसार को प्राप्त करेंगे संसार में सब प्रकार जन्म तिर्यग योनि में है पशु पक्षी कीड़े मकोड़े पेड़ पौधे सब प्रकार जन्म प्राप्त करेगा किंतु सुषुम्ना नाड़ी में जाएगा तो ब्रह्म लोक जाएगा और ज्ञान हो गया तो उसके गामने की आवश्यकता नहीं है इदानी सर्वबल्यर्थ उपसंहारार्थम आह सारे बल्ली के उपसंहार करने के लिए कहते हैं अंगुष्ठ मात्र पुरुषोंतरात्मा सदा जनानां हृदय सन्निविष्टः तं स्वा शरीरात् प्रबृहेन् मुञ्जादिवेशिकां धर्येण तम विद्या अमृतम त विद्या शुक्रमृतमिति अंगुष्ठ मात्र पुरुष अंतरात्मा ये अंतरात्मा पुरुष है अंगुष्ठ मात्र अंगुष्ठ परिमाण अपने अंगुष्ठ परिमाण हृदय उसके अंदर है अंतकोण इतने में है हृदय के अंदर उसमें आत्मा की अभिव्यक्ति होती है इसलिए अंगुष्ठ मात्र कहा व्यापक है आत्मा सदा जनाना हृदय सन्निविष्ट मनुष्य के हृदय में हमेशा ही स्थित है तम स्वात शरीरात प्रब्रहेन अपने शरीर से स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीर से पृथक करे उद्यमन कर उद्यमने धैर्येण प्रब्रहेत मुंजाद इव इसी काम धैर्येण धैर्य से उसको पृथक करे विवेक करके अलग करे किस प्रकार मुंजाद इव इसी काम मुंज नाम का तीर्ण होता है उसके अंदर कोमल बहुत कोमल तीर्ण रुई जैसे रहता है उसको निकालते समय ऊपर छिलका सब निकालेंगे तो रही रहेगा टूट जाती है बहुत कोमल धैर्य पूर्वक तो ऊपर ऊपर जैसे छिलका निकालते हैं अंदर वाला निकालने के लिए इसी प्रकार यहाँ पांचों कोश से पृथक समझे पृथक करके अपने को जाने तो हम यहाँ तो छिलिका ऊपर निकालते तृण यहाँ युक्ति है युक्ति करके अन्य के आदि युक्ति के द्वारा पांच कोश से विलक्षण उसको समझे तम विद्या शुक्रम अमृतम तम विद्या शुक्रम अमृतम इति उसको समझे शुक्र शुद्ध है वो अमृतत्व है ब्रह्म है उसको समझे तम विद्या करके पुनरावृत्ति समाप्ति उपदेश मंत्र उपनिषद की समाप्ति भाष्य में अंगुष्ठ मात्र अंगु अंगुष्ठ मात्र पुरुष अंतरात्मा सदा जनानाम संबंधिनी हृदय सन्निविष्ट मनुष्य संबंधी हृदय में सन्निविष्ट है यथा व्याख्यातस्तम हृदय तब बुद्धि में अभिव्यक्त होने से वहां कहा गया सर्वव्यापक है आत्मा स्वाद आत्म्या शरीरात परबृहेद अपने शरीर के अंदर दूसरे में क्या अपने शरीर में अपने अंदर है बुद्धि में उद्यच्छेत का निष्कर्षित पृथक कुरियात पृथक समझी उसको पृथक करने का तो पृथक समझना है जो मेरा है वो मैं नहीं हूँ देह इंद्रिय पांच कोश मेरे मम शरीरम इंद्रिय मम मनो मम बुद्धि मदिया जो मेरे हो मेरे से भिन्न है मैं नहीं हूँ ऐसा करके सब दृश्य पदार्थ से विलक्षण में हूँ ऐसे विचार करके जो ज्ञेय पदार्थ हो मैं नहीं हूँ मेरे से भिन्न है जो मेरा है मैं नहीं हूँ इसी युक्ति से सबसे विलक्षण अपने को समझे किमेव इति उचित कैसे मुंजादि वैसी काम से जैसी सिका को अलग निकालते अंतस्थाम अंतः अंदर स्थित जो सिका तीर्ण है कोमल उसको अप्रमादे अप्रमादेन धैर्य प्रमाद वर्जन धीर से भाव धैर्य प्रमाद कर्ण से प्राप्त नहीं होगा प्रमाद रहित वो मुंज से इसी का को निकालते हैं वहाँ थोड़ा प्रमाद होगा तो टूट जाएगी निकलेगा नहीं हाँ, बहुत धैर्य के साथ निकालना पड़ता है इसी प्रकार यहाँ युक्ति अन्य व्यक्ति की युक्ति श्रवण मन निधि ध्यान करे उसको पृथक समझे लगातार उसके चिंतन प्रमाद वर्जन करके तम शरीरात निकृष्टम मात्रम विद्यात शरीर से तीनों शरीर से शरीर तृतीयात तीनों सर से पृथक समझे निकृष्ट अलग चिन्ह मात्र है चेतन मात्र वो कुछ नहीं जो सबका प्रकाशक है स्वयं प्रकाश है अपना स्वरूप है उसको विद्यात विजानियात शुक्रम अमृतम यथोत ब्रह्म थे वही शुक्र है शुद्ध है वही अमृत है ब्रह्म वही ब्रह्म अपना स्वरूप वही है जो सबको प्रकाश करने वाला सबको जानने वाला जो जाना नहीं जाता है जितने ज्ञेय पदार्थ है सब चिद भाष्य चित्त के द्वारा प्रकाशित तो होता है वही चिद रूप दृग रूप है कि अपना स्वरूप है उसको समझियो ब्रह्म तम विद्या शुक्रम अमृतम तम विद्या शुक्रम अमृतम दो बार कहा गया द्विर्वचनम द्वि द्वितीय चतुर्भ्य सूच प्रत्यांत दो बार कहा गया द्विर्वचनम अव्यपद द्विर् वचनम दो बार कथन किया गया उपनिषद परिसमाप्त्यर्थम उपनिषद समाप्ति के लिए इति शब्दश्च इति शब्दश्च ऊपर से समाप्त अर्थ वो भी उपनिषद समाप्ति के लिए इति शब्द भी है दीर्घवचन और इति शब्द भी उपनिषद समाप्ति के लिए द्योतन करने के लिए विद्या स्तुत्यर्थ अयम आख्यायिक उप आख्यायिकार्थ उपसंहारो अधुना उच्यते विद्या स्तुत्यर्थ अयम अर्थ उपसंहार विद्या की स्तुति के लिए आख्याय का उपसंहार अभी करते हैं अधुना उच्यते कहते हैं मृत्युपूर्वक्ताम नाचिकेतोऽथ लब्ध्वा विद्यामेतां योगविधिं च कृत्स्नं ब्रह्म प्राप्त विरोजो भूत विमृत्युरन्योप्येवं यो विदध्यात्ममेव मृत्युप्रोक्तां नचिकेतोऽथ लब्ध्वा विद्यामेतां योगविधिं च कृत्स्नं ब्रह्म प्राप्त विरोजो भूत विमृत्युरन्योप्येवं यो विदध्यात्ममेव मृत्यु न प्रोक्ता मृत्यु प्रोक्ता यमराज ने कही विद्या अथ एताम विद्याम नचिकेतो लब्ध्वा इस विद्या को नचिकेत ने प्राप्त किए प्राप्त करके लब्ध्वा हैं हम हाँ, हाँ, नाचिकेत नाचिकेत मृत्यु प्रोक्ताम नाचिकेत नचिकेत इसे सांदस प्रयोग है नाचिकेत नाचिकेत सार्थ में करेंगे तो हो जाएगा अण करेंगे तो नाचिकेत हो जाएगा नाचिकेत अथ लब्ध्वा प्राप्त करे विद्या में योग विधि च कृष्णम विद्या और योग विधि किस प्रकार प्राप्त करना है सब जान करके ब्रह्म प्राप्त ब्रह्म को प्राप्त कर लिया नचिकेता विरजु अभूत निष्पाप हो गया रज रहित तो हो गया विमृत्यु मृत्यु रहित तो हो गया अन्योप्यव यो विधि अन्योपि यो एवं विद एवं के साथ विद का एवं विद ऐसा जो जानता है अन्य भी मृद यमराज जी के उपदेश से नचिकेता को तो ज्ञान हो गया मुक्त हो गया अन्योपि यो एवं विद अन्य भी जो एवं विद ऐसे जान लेता है जैसे नचिकेता को ज्ञान हुआ एवं विद ऐसा जो जानता है ब्रह्म को कैसे अध्यात्म में वो अध्यात्म है स्वरूप अपने स्वरूप हम अस्मि इसी प्रकार जो जानता है वो भी मुक्त हो जाता है मुक्त हो गया है पहले एवं मृत्यु प्रोक्ताम यथोताम एताम ब्रह्म विद्याम मृत्यु यमराज ने कही गई ये विद्या यथोता जैसे कही गई एताम ब्रह्म विद्याम योग विधिम च कृत्स्नम कृष्ण का अर्थ समस्तम सोपकरणम उपकरण के साथ साधन के साथ योग विधि कह करके सफलम इत्येतत् फल के साथ फल भी कथन कर दिया नाचिकेतो वर प्रदानात मृत्यु लब्ध्वा प्राप्य इति अर्थ वर प्रदान कर्ण से यमराज से प्राप्त हुआ प्राप्त करके मुक्त हो गया क्या हो गया किम ब्रह्म प्राप्त अभूत मुक्त भवति इत्यर्थ ब्रह्म प्राप्त अभूत ब्रह्म प्राप्त विरोज अभूत ब्रह्म प्राप्त अभूत ब्रह्म को प्राप्त कर लिया अर्थात मुक्त हो गया कथम विद्या प्राप्त्या विरोज हो विरोज होकर के रज रहित है विगत धर्माधर्म धर्माधर्म सो रज है रज शब्द से कहा गया धर्माधर रहित ज्ञान होने पर सारे कर्म नष्ट हो जाता है तो मुक्त हो ब्रह्म प्राप्त विमृत्युर मुक्त हो गया विमृत्युर विगत कामा अविद्याश्च काम कर्म अविद्या को मृत्यु शब्द से कहते उससे रहित हो गया ज्ञान प्राप्त होने से ही विगत कामा अविद्याश्च कामा अविद्य विगत कामा अविद्या स विगत काम अविद्य अविद्या काम कर्म रहित तो हो गया पहले तो कर्म कहते हैं विगत धर्माधर्म विरज शब्द से अब बाकी रहा अविद्या और काम उससे रहित तो हो गया कामा अविद्य विगत सन पूरा मित्यर्थ पहले ही ज्ञान होते ही जी मरने के पहले तो नचिकेत तो को इसे मिल गया तो हमको क्या लाभ है हमारा न केवल नाचिकेत एव अन्योपि अन्यपि एवं विद अन्य भी नाचिकेतवद आत्मविधि अध्यात्ममेव अन्यपि यो एवं विधि अन्योपि एवं यो विधि यो एवं विधि ऐसा जानता है आत्मविद ज्ञानी नाचिकेत को जैसे ज्ञान हुआ नाचिकेतवद आत्मविधि अध्यात्ममेव आत्मनि अहमस्मि ब्रह्म असु तद ऐसा नहीं अध्यात्ममेव निरुपचरितम प्रत्येक स्वरूपम प्राप्य अहम अस्मि निरुपचरित मुख्य है गौण नहीं प्रत्येक स्वरूप अहम ब्रह्म इसको प्राप्य तत्व में अभिप्राय ये तत्व प्राप्त कर लेता है ज्ञान हो जाए जो ज्ञान जिसको ज्ञान होता है वो तद्रूप हो जाता है न अन्यद रूपम अप्रत्यग रूपम न अन्यद रूपम अप्रत्यग रूप नहीं अन्यपि एवं विधि अध्यात्म में अन्य रूप नहीं ब्रह्म भिन्न से भिन्न अप्रत्यय प्रत्यय से भिन्न ऐसा नहीं अहम अस्मि तदेव अध्यात्म एवं उक्त प्रकार ने यो भेद अध्यात्म एवं आत्मनि अहम अस्मि इस प्रकार जो उक्त प्रकार ने यो वेद जो जानता है साक्षात्कार कर लेता है संशय विपर रहित एवं वित्त यो एवं वित्त ऐसा जानता है सोपी वो भी मुक्त हो जाता है वो भी विरज हो जाता है विमृत्यु हो जाता है विरजसन ब्रह्म प्राप्त विमृत्यु भवति वाक्य से जिस प्रकार नचिकेत विरज हो गया धर्माधर्म रहित तो हो गया ब्रह्म प्राप्ति से विमृत्यु हो गया मृत्यु रहित तो, अविद्या काम का रहित तो हो गया इसी प्रकार जो ज्ञान प्राप्त करेगा वो भी ऐसे हो जाता है भवति ये यो देवानां प्रत्यबुद्धत सैव तद अभवत तथर्षीणाम तथा मनुष्याणाम बृहदारण्य में आया यो यो प्रत्यबुद्धत सैव तद अभवत जो जो जान लिया वो तद्रूप हो गया तथर्षीणाम तथा मनुष्याणाम ऋषि में भी मनुष्य में जो यो जो जान लेगा जिसको साक्षात्कार होगा वो तद्रूप हो जाता है ज्ञान होने के बाद तद्रूप होने के लिए और कोई विचार नहीं अधिकार का विचार नहीं है सब समर्थ है ज्ञान हो गया तो प्राप्त कर लेता है ज्ञान किसको होगा जिस जो साधन करेगा यो यो ज्ञान प्राप्ति के लिए सब का अधिकार है वेद पढ़ने के लिए राजस्व याग करने के लिए ज्योतिषम करने के लिए बृहस्पति सब करने के लिए सब विचार होता है किसका अधिकार है किसका नहीं है किंतु ज्ञान प्राप्ति और मोक्ष के लिए अधिकार सब का है हाँ ज्ञान प्राप्त करने के लिए सब ग्रंथ कौन क्या पढ़ेगा वो सब सूत्र में आता है अपशुद्र अधिकरण आया जिनका वेद अध्ययन करने के लिए अधिकार नहीं स्मृति से भी ज्ञान होगा इसी प्रकार किंतु ज्ञान कोई भी प्राप्त कर सकता है मोक्ष भी प्राप्त कर सकता है जो जो प्राप्त होता ज्ञान प्राप्त करता है वह ब्रह्म स्वरूप हो जाता है है में आत्मानम देहम अधिकृत तो तद्यात्मम योपि एवं विद अध्यात्ममेव अध्यात्म का अर्थ आत्मनि आत्मानम अधिकृत्य वर्तते यहाँ आत्मा शब्द का अर्थ देह देह में रहता है तो अध्यात्मम देह के अंतर्गत देह के अंतर्गत अपने प्रत्येक स्वरूप प्रत्येक स्वरूप में ब्रह्म प्राप्य विमृतिर्भवती प्रत्येक अपने स्वरूप ही प्रत्येक प्रत्येक होता है आत्मा को प्रत्येक दे प्रति अंचति प्रत्येक प्रतिकूल्येन विपरीतत्वेन अंचति अंच गति प्राप्ति अर्थ के अज्ञान अज्ञान के कार्य से विलक्षण है शुद्ध चिन्ह मात्र ज्ञान स्वरूप स्वयं प्रकाशमान है इसे उसको प्रत्यय का स्वरूप प्रत्येक स्वरूप ही ब्रह्म है जो क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि भगवान गीता में कहते इधम इदम शरीरम कौनते क्षेत्र कह करके इसको जानने वाला क्षेत्रज्ञ स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीर भूत भौतिक प्रपंच सब कुछ जानने वाला ही क्षेत्रज्ञ दृग रूप प्रत्यगात्मा रोहित वही क्षेत्रज्ञ ब्रह्म है ब्रह्म प्राप्य विमृत्युर्भवती मुक्त रहित तो, मृत्यु रहित तो हो जाता है अविद्या काम कर्म को मृत्यु शब्द से कहते हैं नान्य रूपम अर्चिरादि मार्ग गम्यम प्राप्य अन्य कोई रूप प्राप्त करके अर्चिरादि मार्ग गम्य प्राप्त करके मुक्त नहीं हो सकता है अन्य कुछ प्राप्त करेगा तो आगे फिर वापस आना पड़ेगा अर्चिरादि मार्ग गम्यम प्राप्य संयोग से वियोग अवसानत्वाद इत्यर्थ संयोग होगा तो वियोग हो जाएगा सर्वे क्षयांत निचया पतनांत समुच्छया संयोग विप्रयोगांत मरणांतम जीवनम क्षयांत सर्वे निचया जितने इकट्ठी कर अंत में क्षय हो जाएगा क्षयांत सर्वे सर्वे निचया धन इकट्ठी करेगा तो क्षय हो जाएगा अपने द्वारा नहीं तो पुत्र पुत्र के पुत्र पोता वो सब खत्म कर देगा बहुत इकट्ठी करते हैं बड़े प्रयत्न करके अंत में उसको उड़ा देता है पोता नाती तो उसके लक्ष्मी धन की सद्गति नहीं हो तो असद्गति होती है जितने भी इकट्ठे करें अंत में समाप्त तो हो जाएगा सर्वे क्षांता निचय पतनांता समुच्चय समुच्चय ऊपर उठे जो अंत में पतन हो जाएगा इसे ज़्यादा ऊपर उड़ने का प्रयास करना जरूरत नहीं ऊपर उड़े जो ऊपर उठे तो गिर जाएगा पतनांता समझ आया संयोगा विप्रयोगांत संयोग है तो वियोग हो जाएगा कहीं संयोग होता अंत में विप्रयोग वियोग हो जाएगा संयोग से वियोग तो अंत में वियोग हो जाएगा मरणांतम ही जीवन जीवन है तो अंत में मरण अवश्य भावी है तो जीवन है जीव प्राण धारण प्राण धारण करता है तो प्राण भी जा चले जाएगा हमेशा ध्यान रखना याद रखना चाहिए ये श्वास चल रहा है बंद हो गया तो गया जो कर्म है तो अदृष्ट है तो चलता है अदृष्ट समाप्त हो गया तो डॉक्टर क्या उसके बाप भी रक्षा नहीं कर सकता है डॉक्टर रक्षा करे तो उसके बाप नहीं मरता बच्चा नहीं मरता डॉक्टर के बच्चा ही मर जाता है बाप तो बूढ़े होकर मर जाएगी कोई छोटे बच्चे को भी डॉक्टर अपने बच्चे को बचा नहीं सकता है तो समाप्त हो गया तो गया संयोग अभिप्रयोग अंता इसी प्रकार जो जाएगा ब्रह्मलोक प्राप्त करेगा अंत में फिर विभाग हो जाएगा इसलिए और कुछ प्राप्त करके मुक्त हो नहीं सकता है ये ब्रह्म सूत्र में है कार्यम बादरी रस्य गति उपपत्ते जहाँ गति गमन कहा गया और कार्य ब्रह्म की प्राप्ति शुद्ध ब्रह्म ज्ञान के बिना आत्यंतिक मुक्ति नहीं होती है अब स्वर्ग जाने के लिए कोई मीमांसक लोग स्वर्ग गया तो कहते मुक्त हो गए कोई ब्रह्म लोग जाते हुए कहते मुक्त हो गए सो आपेक्षिक है वास्तव मुक्ति नहीं है वास्तव से शब्द मुक्ति तो ज्ञान से ज्ञान के बिना नहीं अन्य कोई प्राप्त करे सगुण ब्रह्म उपासना करे साक्षात्कार कर ले तो ब्रह्म लोग जाएगा हम हाँ, भोग वहाँ करेगा बहुत किंतु सद्य मुक्ति ज्ञान से ही है एवं शब्द से विशब्देन सह संबंध एवं विदिति मंत्र में आया अन्यप्येवम यो विद अध्यात्ममेव अन्यप्येवम यो विधि यो अन्योपि एवं वेदि एवं के साथ विधि का अन्वय करना अन्योपि यो एवं वेदि जो इस प्रकार जान लेता है जैसे नचिकेता को ज्ञान हुआ अहम अस्मि परम ब्रह्म ऐसा जो साक्षात्कार कर लेता है वो भी मुक्त हो जाता है अध्यात्म देह के अंदर प्रत्येक स्वरूप प्रत्येक आत्मा अहम ब्रह्म शिष्याचार्य हो प्रमादकृत अन्यायन विद्या ग्रहण प्रतिपादन निमित्त दोष प्रशमनातेयम शांति रुच्यते शिष्य आचार्य प्रमादकृत अन्यायन कभी प्रमाद से अन्याय हो सकता है महाविद्विषा वह विद्वेष नहीं करे प्रार्थना करते हैं गुरु शिष्य में विद्वेष कैसे होगा विद्वेष हो सकता है संभव है प्रमाद के अन्याय प्रमाद के कारण अन्याय से अन्याय नहीं होना चाहिए किंतु प्रमाद से कभी अन्याय हो जाता है बड़े-बड़े में भी गलती हो जाती है प्रमाद से तो अन्याय होने से क्या होता विद्या ग्रहण प्रतिपादन निमित्त दोष प्रशमनार्था विद्या ग्रहण के लिए कुछ नियम है विद्या गुरु शुश्रूषया विद्या पुष्कलेन धनेन वा अथवा विद्या विद्या चतुर्थम नैव कारणम चतुर्थ कोई कारण नहीं गुरु शुश्रूषा पुष्कलेन धनेन वा अथवा विद्या देकर विद्या तो तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया विद्या ग्रहण से नियम से अब प्रतिपादन आचार्य ग्रंथ अर्थ प्रतिपादन करते हैं प्रमा से कभी प्रतिपादन ठीक नहीं हो पाए उसके कारण दोष होता है विद्वेष हो सकता है ये विद्या ग्रहण में अन्याय हो प्रतिपादन में कहीं प्रमा से अन्याय हो गया तन्निमित्त दोष परस्पर विद्वेष हो सकता है दोष हो सकता है उसके प्रशमनार्था प्रशमनाय यम इति प्रशमनार्था शांति यम शांति रुच्यते इसलिए शांति शांति पाठ प्रारंभ में अंत में किया जाता है विघ्न संभव है विघ्न निवृत्ति के लिए और अन्य यहाँ तो महा विद्युता वह कहने से विद्या ग्रहण प्रतिपादन निमित्त दोष और अन्यत्र फल प्राप्ति के लिए विघ्न हो सकता है श्रेयां से बहु विघ्नानि इसलिए देवताओं को प्रणाम करके शांति पाठ करके वैदिक शांति मंत्र है वो मंत्र पाठ करके श्रद्धा पूर्वक पाठ करना चाहिए पाठ करके श्रवण करना होता है अंत में भी पाठ किया जाता है आदि में अंत में शांति पाठ करने से निर्विघ्न होता है नहीं तो विघ्न संभव है श्रवण भी पूरा नहीं हो पाता है आगे मनन निध्यासन करना तो बहुत और कठिन है श्रवण भी जितने चाहिए नहीं हो पाता है बहुत में नहीं हो पाता है बहुत प्रारंभ नहीं करते प्रारंभ करने वाले पहले लघु दी तर्क संग में तो समय लगाया जाता लग जाता है बहुत समय उसको पूरा करना कठिन होता है उसमें तो सो में कितने भागते हैं निन्यानवे से अधिक सो में से भागते हैं फिर कोई शुरू करता है फिर छोड़ते हैं बहुत पूरा पार करने के बाद फिर अभिमान हो जाता है हमको आ गया बड़े तो अभिमान जिसको हो गया आ गया और पढ़ नहीं पाता जो समझ में समझने का समय आता है थोड़े सिद्धांत मुक्तावली आदि पढ़ने के बाद पाँच साल के तक पहले बहुत परिश्रम करते हैं पाँच सात साल में थोड़ी योग्यता आई अभी समझने का समय आया उस समय वैराग्य हो जाता है छोड़ो तो फिर गए भागवत तो पढ़ो था रास्ता बदल गया गया फिर श्रवण मनन नहीं हो पाता है सो पढ़ने पर फिर वेदांत श्रवण किया थोड़े पढ़ते ज्ञान आ गया समझ में गया तो ये सब विघ्न बहुत होते हैं इसलिए विधि पूर्वक ये मंत्र पाठ शांति पाठ को बहुत बार बोलते तभी उसमें आग्रह नहीं होता बहुत लोगों का तो शांति पाठ के बाद जाएंगे यदि साढ़े छः समय सात बजे समय रखेंगे वो दस मिनट के बाद आएंगे अभी साढ़े छः समय तो आने में देर होता है यदि पौने सात रखेंगे और सात बजे पहुँचेंगे और सात बजे समय रखें तो और पंद्रह मिनट आगे होगा जिनको देर में आने का अभ्यास है वो देर में ही आएंगे हिसाब करके अभी शांति पाठ होता होगा बाद में जब साढ़े छः बजे का तभी तो, तभी तैयार हो अभी तो शांति पाठ है शांति पाठ श्रवण का अंग है उसे उसके साथ करे सर्वदा अन्यत्र श्लोक पाठ गीता पाठ भोजन के समय में महिमन पाठ आरती आदि करते समय हमेशा ही ध्यान करके समय का दुरुपयोग होता है नहीं तो पाठ होता है और मन अन्यमस्क होता है व्यर्थ हुआ है वो पाठ के साथ मन एकाग्र करके ध्यान करे परमात्मा का चिंतन करने के लिए ये मन को परमात्मा में लगाने के लिए विभिन्न प्रकार दिनचर्या के अंतर्गत रखा गया है बीच बीच में भोजन के समय बैठा तो तो उसमें पंचदश अध्याय पाठ करते हैं वेद पाठ उसके पाठ करते समय मन से ध्यान करें आरती महिमा आदि करते रोज शांति पाठ पाठ करना है तो शांति पाठ करके तभी निर्विघ्न होता है तो यहाँ दोष प्रसाप्ति के लिए शांति भी सहनावतु सहनौ भुनक्तु सहवीर्यं तमस्तु तेजस्विनावधितमस्तु मा वहे ओम शांति शांति शांति ये कृष्ण यजुर्वेद का है से ये शांति पाठ है सह नौ अवतु शिष्याचार्य दोनों को सह नौ अवतु अवरक्षण सह नौ भुनतु भुज पालन अवय ये भी पालन करे पालन करे दोनों तो दोनों में भेद अभी बताएंगे कर करवावे सामर्थ्य सा एक साथ निष्पादन करे तेजस्वी नौ अधितमस्तु तेजस्वी नौ उसका पदच्छेद करें तेजस्वी नौ अधितम अस्तु नौ आवाभ्याम अधितम तेजस्वी अस्तु हमारे द्वारा पढ़ा गया तेजस्वी हो फलप्रद हो महाविद्युषा भई परस्पर विद्वेष नहीं करे ओम शांति शांति तीन प्रकार से तीन नाम शांति आध्यात्मिक आधिभौतिक आधिदैविक तीन विघ्न उपप्लव निवृत्ति के लिए तीन प्रकार तीन बार शांति शांति शांति कहते हैं इसका अर्थ क्या गया भाष्य में सह नव अवतु नव का तो आवाम हम को अवतु का तो पालयतु पालन करे आगे भी भुनत्वें भी बुजुर्ग पालन अर्थ में तो दोनों में भेद क्या है पहले पालयतु विद्या स्वरूप प्रकाशन है ना पालयतु विद्या स्वरूप प्रकाश हो श्रवण करते समय विद्या स्वरूप प्रकाश विद्या प्राप्त हो विद्या स्वरूप प्रकाशन न पालयतु परमात्मा का सैव परमेश्वर तो पाल तो परमात्मा ही पालन रक्षा करेंगे आगे परमात्मा कौन है उपनिषद प्रकाशित उपनिषद के द्वारा प्रकाशित परमात्मा दोनों शिष्य आचार्य दोनों को पालन करे रक्षा करे किंच सहन भुनक्तु अर्थात तत्फल प्रकाशन न पाल पालयतु पहले विद्या स्वरूप प्रकाश करके उसके बाद विद्या स्वरूप फल प्रकाशन से फल प्रकाशन न विद्या स्वरूप प्रकाशित हो फिर उसको विद्या प्राप्त हो फल प्राप्त हो सनोपाल हेतु यहाँ विद्या स्वरूप प्रकाश हुआ फिर विद्या स्वरूप ग्रहण संशय विपर रहित ज्ञान असंशय विपरहित ज्ञान हो गया तो मोक्ष हो जाएगा सह एव आवाम विद्याकृतम वीर्यम निष्पा करवा भाई दोनों साथ साथ ही विद्याकृतम वीर्यम वीर्य सामर्थ्य विद्याकृत सामर्थ्य सह वीर्यम करवावहे वीर्य सामर्थ्य विद्याकृत सामर्थ्य विद्याकृत सामर्थ्य क्या है विद्या होने पर अनात्मा का तिरस्कार होता है अनात्मा का तिरस्कार निषेध तभी होता है विद्या होने पर आत्मा अनात्म में वेक करते तो भी अनात्मा के विषय में दौड़ते हैं तो विद्या नहीं हुई विद्या होने से अनात्मा का तिरस्कार बिल्कुल बार-बार तिरस्कार करके सो निषेध बार बार करे तो संशय विपर रहित तो ज्ञान होता है यही सामर्थ्य निष्पादन का करवा भाई निष्पादन करे किंच तेजस्वी नौ तेजस्वी अलग पद है पहले तेजस्वी नौ द्विवचन किया उसका अर्थ षष्ठी करना तेजस्वी नौ तेजस्वी नौ तेजस्वी नौ दो प्रकार पदच्छेद करेंगे तेजस्वी नौ एक पद है दूसरा करेंगे तेजस्वी अलग है नौ अलग पद है प्रथम तेजस्वी नौ एक पद है प्रथमा द्विवचन तेजस्वी द्विवचन प्रथमा द्वितीय होता है तेजस्वी नौ किंतु उसका अर्थ करना तेजस्वी नो षष्ठी अर्थ करना तेजस्वी हम दोनों तेजस्वी है दोनों का तेजस्वी नो का अर्थ आवयो हम दोनों शिष्य गुरु आचार्य दोनों के तेजस्वी दोनों का अधितमस्तु यद अधितम नौ अधितम अस्तु जो हम दोनों के द्वारा अधित अध्ययन किया गया तद अस्तु किम अस्तु आगे अब अध्याय करना तद स्वधीतम अस्तु नौ अधितम अस्तु नौ एक पद हो गया अर्थ हो गया तेजस्विनो आवय हम दोनों का अधितम जो अध्ययन किया गया तद अस्तु अस्तु क्या किम अस्तु स्वधितम अस्ति अध्यार करना स्वधितम सदवनम अधितम तो फल प्राप्त हो सदिन सदितम अस्तु एक प्रकार हुआ दूसरे प्रकार के तेजस्वी अलग पद नव अलग पद है अथवा तेजस्वी ये तेजस्वी का तेजस्वी का नौ मतलब आभ्याम यद अधितम तत् तेजस्वी अस्तु अब ये तेजस्वी अस्तु अस्तु के साथ तेजस्वी है तेजस्वी अस्तु नौ का था आभाभ्याम हम दोनों के द्वारा अधितम नौ अधितम तेजस्वी वस्तु नौ अधितम नौ का था अभाभ्याम हम दोनों के द्वारा जो अध्ययन किया गया वह तद तेजस्वी वस्तु तद अतीव तेजस्वी वही तेजस्वी हो तेजस्वी क्या वीरवत समर्थ हो इत्यर्थ पहले तेजस्वी नौ का अर्थ तेजस्वी नो हम दोनों तेजस्वी ये दोनों का अधितम स्वधितम हो अभी कहते आवाभ्याम नौ अतीतम तेजस्वी अस्तु हम दोनों के द्वारा जो अध्ययन किया गया विचार किया गया वो तेजस्वी का अर्थ वीर्यवद अस्तु ये भी कहा तेजस्वी नौ अधीतम अस्तु नौ नौ आवाभ्याम अधितम तेजस्वी भवतु मा विद्युषा वहै विद्वेष नहीं कर शिष्याचार्य अन्योन्यम परस्पर प्रमादकृत अन्याय अध्ययन अध्यापन दोष निमित्त द्वेषम मां करवा वही प्रमाद के कारण अन्याय हो जाता है अध्ययन अध्यापन दोष शिष्य का अध्ययन में प्रमाद पूर्व हो गया अध्यापन में अर्थ प्रतिपादन में आचार्य का कहीं प्रमाद हुआ तो दोष निमित्तम द्वेषम दोष के कारण द्वेष हो सकता है ऐसा द्वेष नहीं करे मां करवा वही द्वेष नहीं करे ऐसे करे परमात्मा से प्रार्थना करते हैं सही देश नहीं हो शांति शांति शांति रीति त्रिर्वचनम तीन बार कथन है सर्व दोष उपशमनार्थम इतोमिति सर्व दोष उपशमनार्थम सारे दोष की आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक त्रिविध ताप शांति निवृत्ति के लिए तीन बार करते हैं आध्यात्मिक देह संबंधी व्याधि आदि आधिभौतिक भूत संबंधी अन्य जीव से पशु पक्षी अन्य मनुष्य से यो और आधिदैविक है देव वृष्टि घूर्णी भूकंप आदि ये त्रिविध ताप संभव है उसकी निवृत्ति के लिए वो तीन बार शांति करते इति ओम इति ओम शब्द मंगलवाचक है ओम शब्द मंगल प्रयोजन संपूर्ण उपनिषद अर्थ स्मारक इति इति ओम इति वो मंगल के लिए इति कहकर सारे उपनिषद अर्थ स्मारक कर दिए जिसे इति माहेश्वरानी सूत्राणी चौदह सूत्र पढ़ करके इति कहते सारे चौदह का स्मरण करने के लिए अ यून रिलिक हल कह करके इति माहेश्वरानी सूत्राणी लघु कंद में सब होगा तो इति कह कर फिर चौदह सूत्र माहेश्वर सूत्र है यहाँ ओम इति कह करके अ इति शब्द संपूर्ण उपनिषद अर्थ का स्मारक है और भाष्य समाप्ति द्योतन द्योतन का प्रयोजन भाष्य समाप्ति के लिए इति शब्द आया ओम शब्द मंगल के लिए संपूर्ण उपनिषद अर्थ स्मरण करने के लिए इति शब्द भाष्य समाप्ति के ओम इति ओम इति उपसनार्थम इति ओम इति इति ओम इति पहले आया संपूर्ण उपनिषद अर्थ स्मारक ओम कर मंगल के लिए इति अंत में भाष्य समाप्ति के लिए इति काठोक उपनिषद द्वितीय अध्याय तृतीय वल्ली समाप्ता इति श्रीमद् परमहंस परिव्राजकाचार्य गोविंद भगवत पूज्यपाद शिष्य श्रीमद आचार्य श्री शंकर भगवत कृतौ काठोक उपनिषद भाष्ये द्वितीय अध्याय समाप्तः इति श्रीमद् परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद शुद्धानंद पूज्यपाद शिष्य आनंद ज्ञान विरचिते काठक उपनिषद भाष्य व्याख्याने द्वितीयाध्याय समाप्त परिवाजकाचार्य परमहंस श्रीमत शुद्धानंद पूज्यपाद शिष्य पूज्यपादे है शुद्धानंद के साथ शुद्धानंद जो पूज्यपाद सम्मान के लिए पाद शब्द पूज्यपाद जो शुद्धानंद उनके शिष्य आनंद ज्ञान विरचित आनंद गिरि जो कहते हैं आनंद ज्ञान गिरी उनका नाम स्वामी आनंद ज्ञान गिरी आनंद ज्ञान विरचित और पहले परिव्राजकाचार्य गोविंद भगवत पूज्य पाद गोविंदाचार्य के आचार्य के आच, गुरु है गोविंद भगवत पूज्य पाद उनके शिष्य आचार्य उनके कृति ग्रंथ का अठक उपनिषद भाष्य में द्वितीय अध्याय समाप्त कितने वाली है छः वली अध्याय कितने दो वली किसी वेद की उपनिषद है कृष्ण यजुर्वेद प्रथम हो गया ईशावास्य शुक्ल यजुर्वेद द्वितीय हो गई केन उपनिषद सामवेद ये कृष्ण यजुर्वेद इसके आगे आएगी उपनिषद प्रश्न उपनिषद और मुंडक मांडविक ये तीनों अर्थ और वेद के कल से मुंडक उपनिषद प्रश्न प्रश्नोपनिषद ओम सहनावतु सहनौ